Yeah. ऋग्वेदीय ऐतुरोपनिषद प्रथम खंड प्रथम अध्याय के तृतीय खंड के द्वादश मंत्र के ऊपर कुछ विचार चल रहा था टीका से देखे हैं ईश्वर से एवं प्रवेश उत्तर तस् पूर्वोक्त कार्यक्रम संघात और उपाधिगम संसार ईश्वर को इस प्रकार से प्रवेश किया स एतम सीमान विदार्य एतया द्वारा प्राप्त होता है इस मंत्र के द्वारा कहा वो परमात्मा ने भोग्य जगत की सृष्टि की पहले भोग्य जगत की सृष्टि के पश्चात स्वयं उसमें प्रवेश हुआ शरीर आदि सृष्टि करके स्वयं प्रवेश हुआ प्रवेश करने के लिए विचार किया कहां से प्रवेश करूं दो स्थान है या तो पादाग्र भाग है या बुर्दा है पादाग्र भाग से प्राण विशिष्ट आत्मा प्रविष्ट हुआ इसलिए वो तो स्थान स्थानीय स्थान ठीक नहीं सोच करके मुर्दा से प्रवेश किया यही कहना चाहता ईश्वर से एवं प्रवेश उत्वा उस परमात्मा जगत नहीं नियमता है उस प्रकार इस शरीर में प्रवेश कथन करके तस्य पूर्वोक्त कार्य का संघात औपाधिकम संसार है वो ईश्वर को ही संसार है तो सृष्टि के पूर्व में परमात्मा से अतिरिक्त वस्तु कुछ भी नहीं तो अभी यहां जो संसारी बन के घूम रहा है वही है औपाधि है तस्य पूर्वोक्त कार्य का संघात पूर्व में जो शरीर इंद्रिया संघात जितने पूर्व में चर्चा हुई वही कार्यक्रम संघाति उपाधि है इसका संसार के लिए कार्यक्रम संघातो उपाधि यश्य परमात्मा को संसार के लिए यही उपाधि है कार्यक्रम संघात नहीं रहे तो परमात्मा परमात्मा ही है जीवक तो नहीं आता है एक आना है ठीक कहते तस्य एवं सृष्टि आवास में कहा तस्य परमात्मा ना वो जो परमात्मा है ईश्वर एवं सृष्ट इस प्रकार से पूर्वोक्त प्रकार क्या है सबसे पहले लोकान सृजयी इति से आरंभ किया लोक की सृष्टि के पहले पंचमहाभूतों की सृष्टि की उनको पंचीकरण किया उसके पश्चात लोक सृष्टि की लोक सृष्टि के बाद में चौदह भुवन की कल्पना की उसके बाद चौदह भुवन के बाद में उनके अधिष्ठात्री देवता के लिए फिर पहले इंद्रिय सृष्टि पहले पिंड शरीर पिंड के बाद में इंद्रिय इंद्रिय के बाद अक्षात्री देवता सृष्टि फिर उनके प्रार्थना के ऊपर उनके लिए व्यष्टि शरीर और अन्न की सृष्टि की एवं इस प्रकार तस्य एवं सृष्ट तस्य माने परमात्मा जो परमात्मा है सृष्टि के आदि में जो आत्मा भाई इधमय अग्रे आशी जो कहा गया परमात्मा उसका एवं सृष्टा इस प्रकार से सृष्टि करके पूर्वोक्त प्रकार से सृष्टि की सृष्टि करके प्रविष्ट तस्य प्रविष्ट जो प्रवेश हुआ परमात्मा है किस रूप से जीवेन तो आत्मा जीव रूप से प्रविष्ट हुआ है जब उपाधि में आ गया तो जीवत्व तो आ गया उसमें जीव, जीवेन आत्मा प्रविष्ट राज्य पुरम जैसे राजा शहर में प्रवेश करके निरीक्षण करता है उन अधिकारियों के कार्य को निरीक्षण करता है उसी प्रकार ये भी यहां प्रवेश किया तो राजा का जैसे माने मकान होता है रहने का महल होता है स्थान होता है इसी प्रकार इसका भी तीन स्थान है जब यहां प्रवेश करेगा तो तीन स्थान इसका है निवास स्थान तीन का तस् एवं सृष्ट प्रविष्ट परमात्मा उस परमात्मा का जीवन आत्मा जीव रूप से प्रविष्ट हुआ है और परमात्मा तो नहीं यहां घुसने पर औपाधिक संसारित्व तो आया है जीव आया राज्य पुरम जैसे राज का राजा का सह बने महल होता है रहने का स्थान उसी प्रकार तया आवश्यकता है इनके बैठने का स्थान तीन है इस आत्मा का रहने का स्थान तीन है जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये तीन होता है तीन अवस्था में आत्मा घूमता है संसारी आत्मा कभी जागृत में कभी स्वप्न में कभी सुसुप्त ये तीनों में घूमना है इसको तुरीय अवस्था में जा नहीं पाएगा संसारी अवस्था में ये तीन होता है तो उसका स्थान क्या है तो जागृत काल में आत्मा दक्षिण चक्षु में बैठ करके भोग करता है और स्वप्न काल में हृदय में मन का स्थान कंठ कंठ में बैठ करके विषम का भोग करता है और सुश्रुप्ति काल में हृदय में बैठ कर यही काम है यह देना चाहता है ये कहना चाहते हैं जागृत काले इंद्रियादि इंद्रिय स्थान दक्षिण चक्षु का एक गोलक गाय आठ या चक्षु मान गोलक है जागृत काल में इंद्रियों का जो स्थान है जहां इंद्रिय बैठती है चक्षु इंद्रिया जहां बैठी जो चक्षु गोलक है एक गोलक में बैठ करके देखना सुनने का काम करता है आत्मा ये एक स्थान है इसका जागृत स्थान का निवास स्थान है स्वप्न काले अंतर मन कहा मन से लेना है मन का अधिकरण कंठस्थान स्वप्न काल में कंठस्थान में रहता है स्वप्न काल में भीतर हो जाता है माने मन मन का अर्थ यहाँ अधिकरण लेना है जो निवास स्थान है मन जहां रहता है वहां है सुश्रुति काले हृदयाकाश है सुश्रुति काल में हृदयाकाश माने भूताकाश लेना हृदयाकाश है तो भूताकाश यहां दहराधिकरण के आधार पर पर ब्रह्म नहीं लेना हृदयाकाश सुश्रुति काल में हृदय के भीतर जो आकाश है वो इसका स्थान है यदि यही कहा यही इसका तीन आवश्यकता है स्थान है अथवा बक्षमाणावात रहे आवशा अथवा आगे कहे जाने वाले तीन स्थान है इसको कहते कैसा स्थान है पितृ शरीरम मातृगर्भाशय शरीर शरीरम कहते ये जीवात्मा यहां जब आता है सबसे पहले पिता के शरीर में प्रवेश होकर के बैठता है एक स्थान उसका हो पिता का शरीर सबसे पहले पिता के शरीर में अन्नादि के माध्यम से प्रवेश हुआ है वो और कालांतर में वहां से मातृ शरीर में पहुंच जाता है ये तो दूसरा निवास स्थान पहला स्थान होगा पिता का शरीर दूसरा स्थान होगा माता का शरीर तीसरा शरीर होगा जब स्वयं शरीर में बैठेगा बाद में पैदा होने पर अपने शरीर में बैठेगा पहले आते समय पहले पितृ शरीर के माध्यम से आएगा वो पिता के शरीर में अन्न के माध्यम से आया वहां बैठा उसके बाद पिता के शरीर से माता के शरीर में प्रवेश कर गया वो तो दूसरा स्थान हो गया तीसरा स्थान स्वयं अपना शरीर जब पैदा होगा तो स्वयं अपना शरीर तीन इंसान भी हो सकता है ये बात ये कहा अथवा करके कहा त्रय अवसथा पितृ शरीरम गर्भाशय सोम शरीर पिता का शरीर और माता का गर्भा गर्भ के आशय गर्भस्थान और अपना शरीर ये तीन स्थान हो सकता है किंतु त्रय स्वप्न कहते हैं ये सब स्वप्न है ये जागृत भी स्वप्न है स्वप्न भी स्वप्न है सुसुप्त भी स्वप्न है अथवा ये जो पितृ शरीर मातृ शरीर मातृ गर्भाशय अथवा स्व शरीर ये भी स्वप्न है तीनों स्थान स्वप्न है दोनों पक्षों में कोई भी हो त्रय स्वप्न तीनों स्वप्न है जागृत स्वप्न सुसुप्त आख्या बोल दिया जो जागृत स्थान बोला था स्वप्न स्थान सुसुप्त स्थान तीन स्थान है रहने का जिसका तीन घर है बताया ये सब स्वप्न है सब कल्पना है स्वप्न स्वप्न में वैसे कल्पना होती है वैसे भी कल्पना है हाँ। स्वप्न से जगने के बाद कल्पना समझता है यहां से जगा नहीं इसलिए सत्य समझता बात होती है ये भी कल्पना ही है स्वप्न है त्रय स्वप्न एक टीका से स्पष्टीकरण हो जाएगा <clears throat> पूर्व पक्ष शंका करता है ना वो जागृतम प्रबोध रूपत्वाद न स्वप्न जागृत अवस्था तो जगा हुआ है ज्ञान जिसमें इंद्रियों के द्वारा विषय का आदरण करना ज्ञान होता है प्रबोध अवस्था है जगा हुआ अवस्था है ये तो स्वप्न नहीं है जागृत को कैसे स्वप्न बोले त्रय स्वप्न कैसे तुम दिया जागृत को तो जो है जागृत हम प्रबोध रूप बता दिया जगा हुआ अवस्था ज्ञान रूप अवस्था है वो समाज में व्यक्ति होता है तो ना स्वप्न है तो स्वप्न नहीं सिद्धांत कहना नहीं ये भी स्वप्न ही है जागृत भी स्वप्न है कैसे स्वप्न एवं स्वप्न ही है ये स्वप्न से अतिरिक्त है पूर्व पक्ष पूछता है कथम कैसे स्वप्न हो सकता है जागरण तो कहते हैं परमार्थ स्वात्म प्रबोधा भाव परमार्थ जो स्व आत्मा अपना आत्मा है उसका ज्ञान नहीं है इसको इसलिए यह भी स्वप्न है तो- मांडू की कारिका में कहा अन्यथा गृणता स्वप्नो निद्रा तत्व अजानता विपर्या से तयोग शिले तुरीय प्रश्न जब अन्य में अन्य बुद्धि होती है उसी का नाम स्वप्न होता है यहां भी सच्चिदानंद आत्मा है शरीर बुद्धि हो रही है ये स्वप्न है जागृत अवस्था भी स्वप्न है अन्यथा गृहणता स्वप्न जब अन्य वस्तु को अन्य प्रकार से ग्रहण करता हो उसको स्वप्न कहा जाता है स्वप्न में ऐसे होता है ठीक इसे प्रकार यहां भी ऐसा ही है अन्यथा गृहणता स्वप्न निद्रा तत्व अजानता निद्रा उस अवस्था का नाम है आत्मा को नहीं जानना आत्मा का अज्ञान ही निद्रा है जिसे का नाम सुसुप्ति है निद्रा है विपर्यासे विपरीत बुद्धि जो हो रही थी इसकी तत्व को न जानना और यहां विपरीत बुद्धि होना ये दोनों छेड़ हो जाने पर तुरियम पर वस्तु फिर तूर्य पद को प्राप्त करता है ऐसा यही ऐसे यहां भी है तो जागृत को कैसे स्वप्न बोल दिया ये पूर्व पक्षी की शंका है वो प्रबोध अवस्था है वह समाज में रहता है इंद्रियों के माध्यम से विषयों का ज्ञानार्जन करता है अनुभव होता है विषयों का ये प्रबोध अवस्था है तो इसको कैसे स्वप्न कहा तब कहते हैं परमार्थ स्वात्म प्रबोधाभावात परमार्थ जो स्व आत्मा अपने स्वरूप है उसका ज्ञान नहीं है इसको है आत्मा अपने को मनुष्य रूप में देख रहा है ये स्वप्न है अन्यथा ग्रहण करना ही स्वप्न ये भी सत्य परमार्थ स्व आत्मा ने स्वस्थ आत्मा स्वात्मा अपना स्वरूप अपने स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण से स्वप्न कहा जाता है जागृत स्वप्नबद्ध असद वस्तु दर्शनार्थ दूसरी बात ये भी है स्वप्न का अर्थ जागृत का जैसे स्वप्न में न होता हुआ वस्तु दिखाई पड़ता असद वस्तु का वाहन होता है जो भी हस्ती पर्वत आदि जो भी स्वप्न में हम दृश्य देखते हैं होता नहीं असत वस्तु का दर्शन है यहां भी असत वस्तु है ये इसका दर्शन हो रहा है कल्पना है ये यहां से जगे तो पता लग जाए असत वस्तु स्वप्नवध असत वस्तु असत दो हेतु दिया एक तो अपना ज्ञान नहीं है इसलिए स्वप्न है ये अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है ये, तो- दूसरा रूपांतर दिख रहा है मनुष्य रूप में दिख रहा है असत वस्तु का दर्शन हो रहा है इसलिए स्वप्न आगे कहते हैं <clears throat> अयम आवश्यक अयम आवश्यक तीन बार बोला अयम अवमेव आवसथ इदम शब्द से कह रहे सन्निधि में दिखा रहे हैं इदमस्तु सन्निकृष्ट अयम करके दिखाते दे नजदीक में अयम करके इसको दिखाया करते हैं बाहर को नहीं दिखाया ये घर है ऐसा नहीं इधर को दिखाया अयमेव आवसथ चक्षुर दक्षिणम प्रथमा प्रथम आवसत दाइने चक्षु जागृत काल में इसका निवास स्थान जो संसार में प्रविष्ट हुआ आत्मा है इसका दाहिने चक्षु है गोलक या चक्षु का तो गोलक दाहिने आंख है मनो अंतर द्वितीय इसके भीतर में मन माने मन जहां रहता है कंठ में बैठ करके स्वप्न देखता है वो स्थान इसका होता है द्वितीय रहने का स्थान स्वप्न अवस्था में कंठ में होता है हृदयाकाश तृतीय का हृदयावच्छिन्न भूताकाश पर ब्रह्म हृदयाकाश का अर्थ मतलब परब्रह्म भूताकाश ये तृतीय स्थान है ये तीनों में घूमता है ये स्थिति होती है अयम आवश्यकता इति उक्तान कीर्तन में ये तीन बार जो बोला एक बार जो बोला उसी के शब्द का कथन है दोबारा फिर अयम अयम आवश्यक अयम आवश्यक अयम आवश्यकता इति उक्तान कीर्तन जो पहले कहा उसी को ही शब्द कर दिया बाद में फिर कीर्तन किया बोला तेसु ही अयम आवश्यकु पर्याय आत्मभावे न वर्तमान हो कहते उन स्थानों में जाएंगे चक्षु में कंठ में हृदय में ये तीनों स्थानों में आवसत है शुरू आवसत अस्मिन इति आवसत यहाँ आम पूर्वक बस धातु से अथ प्रत्यय करके आवश्यक बना होता है अच्छा। जिसमें आकर के बैठता है उसको आवश्यकता कहा गया ऐसी स्थिति है इन्हें आवश्यक में मैंने निवास स्थान में पर्याय बारी बारी से एक ही साथ तीनों में नहीं बैठता कभी चक्षु में बैठेगा कभी कंठ में बैठेगा कभी हृदय में बैठेगा पर्याय पर्याय करके जागृत स्वप्न सुसुप्त में घूमना है इसने पर्याय से पर्याय ना आत्मभाव है ना वर्तमान इन्हीं को अपना स्वरूप समझ के बैठा हुआ होता है जहां बैठा है उसी को अपना स्वरूप खंबा को पकड़ा तो मैं खंबा हूं शरीर पकड़ा हुआ है मैं मनुष्य होकर के बैठा हुआ है जिस शरीर में जाएगा वही हूं हूं लगाएगा अभी शरीर मनुष्य में है तो मनुष्य हूं पक्षी में जाएगा तो पक्षी हूं पशु में जाए तो पशु हूं ऐसे चलेगा इसका ये होमों को छोड़ता नहीं उसी शरीर में तादात्म करने का स्वभाव होता है इसका यही है तेसु ही अयम आवश्यक उन्हीं स्थानों में पर्याय आत्मभाव में वर्तमान हो बारी बारी से अपना स्वरूप से अभिन्न करके रहने वाला है उसको अपना स्वरूप समझता है आत्मभाव से रहने वाला आत्मा अविद्या अविद्या के कारण आत्मभाव से रह रहा है अज्ञान क्या कर दीर्घ आलम गाढ़म प्रसुप्त बड़े लंबे समय से सोया हुआ है इसमें अनादिकाल से शरीर को ही आत्मा समझ के चल रहा है जिस शरीर में गया उसी को मैं यही चल रहा है इसका दीर्घ कालम लंबे समय से गाढ़म प्रसुप्त बड़े निद्रा में सोया हुआ है इसलिए कहा मांडव की कार्य में अनादि माए या सुप्तो जरा जीवो थे अजम अनिद्रम स्वप्नम अद्वैतम बुद्धते अनादिकाल से सोया हुआ है सोना माने यही है अपना स्वरूप का ज्ञान नहीं तो सोया निद्रा है उसकी निद्रा तत्व अजान का जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा वो निद्रा है सोया हुआ है जब तक शरीर आदि बुद्धि है तो यह सोया हुआ है जरा नहीं ते कहा तेसु ही अयम अयम आत्मा तेसु ही आवश्यकेशु उन्हें तीन स्थानों में पर्याय आत्मभाव न वर्तमान बारी बारी से उसमें आत्मभाव से रहता मेरा घर भी नहीं समझता मैं हूं समझता उसको जहां का अभी मनुष्य शरीर में मैं मनुष्य हूं करके चल रहा है मेरा शरीर है बुद्धि है मैं हूं ऐसी बुद्धि आत्मभाव है वर्तमान अविद्या अज्ञान के कारण से अपना स्वरूप का पहचान नहीं है अविद्या दीर्घ कालम गाढ़म प्रसुप्त स्वाभाविक अविद्या जो स्वाभाविक ही अविद्या है अनादिकाल से चल रही जो अविद्या स्वाभाविक अविद्या के द्वारा लंबे समय से सोया हुआ जो आत्मा है न प्रबुद्ध थे जगता नहीं है ये जग धारेंगे मैं अब जगना माने अपने स्वरूप में पहुंचना अपने स्वरूप में पहुंचता ही नहीं ना प्रभुत्व अनेक शत सहस्त्र अनर्थ संपात जब दुख बुदगराभिघाता अनुभवी अपनी ऐसे अनुभव हो रहा है फिर भी जलता नहीं है कैसा अनेक शत सैकड़ों हजारों जो अनर्थ रूपी जो संपात है माने ये बाघ का पित्त तीनों धातु बिगड़ जाए विषम हो जाए तो संपात एक रोग होता है मृत्यु के कारण होता है वैसे यहाँ सन्निपात लगा हुआ है अनेक प्रकार के अनर्थ झगड़े हुए हैं इसकी रक्षा के लिए नजारे क्या क्या करना पड़ रहा है अनेक शत सहस्त्र अनर्थ के जो अनर्थ रूपी जो सन्निपात है अनर्थ ही अनर्थ मिलता है शरीर में कोई अर्थ मिलने वाला नहीं अनर्थ मिलने वाला है अनर्थ जन्य जो सन्निपात है उससे जन्य जो दुख है कष्ट है हमेशा रो रहा है ऐसे दुख रूपी भूलगरा अभिघाते बड़े बड़े दुखों के चपेटे पड़ रहे हैं मुदगल जो तो मुसल होता है गरा गदा से पीटा जा रहा है इसमें दुख रूपी गरा लगा हुआ है फिर भी न प्रबुद्ध थे ये जगता नहीं है फिर भी अपने स्वरूप पे आता नहीं क्यों नहीं आता कि अविद्या स्वाभाविक अविद्या दीर्घालम दीर्घालम प्रसुद्ध सोया हुआ है ऐसी अज्ञान से सोया आच्छादित है या दुखी दुख है फिर भी जगता नहीं ऐसा कहा ठीक है सर एवं पूर्व सृष्टा इस प्रकार से शरीर की सृष्टि की पूर्वोक्त प्रकार से शरीर सृष्टि के लिए सबसे विचार करना पड़ा विचार करने के बाद पंचभूतों की सृष्टि की तो पंचतन मात्रा उसके बाद उसे ये हुआ संविश्रण किया फिर उसके बाद में लोक सृष्टि फिर समष्टि शरीर सृष्टि फिर उसमें अधिष्ठात्री देवताओं के लिए सृष्टि के लिए इंद्रियों की सृष्टि देवता सृष्टि फिर व्यष्टि शरीर की सृष्टि आदि आदि ये सब उनके लिए भोजन के लिए अन्न अन्नादि की सृष्टि ये सब बनाने के बाद फिर शरीर बनाने के बाद एवं पूर्व सृष्टा इस प्रकार से पूर्व माने शरीर है माने इस शरीर को भी पूर्व बोलते हैं पूर्व माने होता है शहर शहर में बहुत प्रकार के वस्तु पाए जाते हैं इसलिए उसको पूर्व कहा जाता है हाँ, पूर्व शब्द होता है ये भी पूर्व है यहाँ भी बहुत प्रकार के वस्तु हैं टट्टी है पेशाब है खून है हड्डी है मांस है सब ये पूर्व में ये शहर में पाए जाते हैं ये शहर है अनेक वस्तु है यहाँ इसलिए इसको पूर्व कहा जाता है इसको एवं पूर्व सृष्टा इस प्रकार से शरीर की सृष्टि करके जीवे ना आत्मना प्रविष्ट जब प्रवेश होता है तो जीव रूप से प्रविष्ट होता है अपने रूप से नहीं जो माया विशिष्ट होकर के आना है विशिष्ट होकर के आएगा तो जीव हो जाएगा जीव रूप जीवात्मा जीवे न आत्मना प्रविष्ट प्रविष्ट हुआ तो परमात्मा है उसका तस्य माने उस परमात्मा ईश्वर से उस ईश्वर का राज्य युवा त्रय जैसे राजा का स्थान होता है निवास स्थान होता है उसी प्रकार इसके भी निवास स्थान तीन है तीन स्थान में घूमता है जागृत स्वप्न से तीन घर है इसका त्रया अवसथा कहा અને અવસાળને કીલા સ્થાન આને રમવા કે સ્થાન એકબીજા આગ્રહને ખેલ પર આય પાસ્તો કરે કે વિશ્વકમને વિશેષિત બસ એટલું આમ ગુંટાય બાકી એસકો ઓર અતા પતા ન અપના કામ કે આય અતા પે કુછ પતા હી છે જેસે મસ્ત આય ઉજાલા હો ગયા ખાના પીના અપના ધમ બાકરને ઇસમે કયા રાત્રી હો ગયા સો ગયા કુછ देर સ્વપ્ન દેખા કુછ देर ગુંશમવસ્થા મે ચલા ગયા બસ એટલું કામ ચલ રહા ઓર જાતા રહે હેતે કામ ચલ રહા હે तान एवं वो स्थानों को बताते हैं वो तीन स्थान की चर्चा करते हैं जागृत इत्यादि कहा जागृता इंद्र स्थान दक्षिण शक्ति कहा था जागृत काल में ये इंद्रिय स्थान वाला होता है इंद्रिय स्थान यश इंद्रिय स्थान जिसका स्थान इंद्रिय माने दक्षिण चक्षु स्थान होता है इंद्रिय का स्थान है वो स्थान इसका होता है चक्षु माने चक्षुर गोलक में चक्षु शब्द गोलक मतलब लेना चक्षु इंद्रिय नहीं लेना इंद्रिय कहाँ रह रही है वही इसका काम होगा चक्षु पाणी गोलकम गोलक कहा आगे स्वप्न काले अंतर मना कहा था मन का अर्थ करते हैं या मन शब्द का अर्थ मन स्थान नहीं इसका मानसो अधिकरण मनोसो अधिकरण कंठ स्थान में यहाँ कंठ स्थान वाला होना मन का अधिकरण स्वप्न में जब मन जहां रहता है वो स्थान इसका है कंठ स्थान स्वप्न कंठे स्वप्नम समाधिशे श्रुति में है कंठ में स्वप्न दिखता है ऐसा कहा है मन में स्वप्न देखता है नहीं बोला कंठे स्वप्न समाधि से ऐसा श्रुति ने कहा कंठ में स्वप्न देखता है ऐसा एक नंबर टिप्पणी में कहा दीपिकायाम समग्रायम श्रुति हाँ, ये जो कंठे स्वप्नम समाधि से श्रुति यहां तो थोड़ा सा दे दिया एक देश दिया दीपिका टीका में पूरी श्रुति दी हुई आगे हृदयाकाश गाता सुसुप्ति काले हृदयाकाश ऐसा बताया उसका अर्थ कर रहे हैं हृदयाकाश माने हृदयावच्छिन्न भूताकाश है क्या कहा हृदय के भीतर में जो भूताकाश है हृदय के घेरे में जो भूताकाश है वो भूताकाश इसका स्थान है पर ब्रह्म नहीं लेना सुसुप्ति में पर ब्रह्म स्थान नहीं इसका हृदयाकाश का अर्थ कहीं कहीं पर ब्रह्म आता है यहां पर भूताकाश नहीं यद्यपि ब्रह्मणी एवं सुश्रुत जीवो वर्तते हैं यद्यपि सुसुप्ति काल में हृदयाकाश में नहीं होना चाहिए ब्रह्म में होना चाहिए जीव को क्योंकि छात्र के परिषद में कहा है सता सौम्यता संपन्न होती कहा उस काल में तो परमात्मा के साथ एक होता है कहा है तो परमात्मा के साथ होने के लिए हृदयाकाश नहीं भूताकाश नहीं वो तो हृदयाकाश चिलाकाश होना चाहिए कहते यद्यपि यद्यपि ब्रह्मणीय व सुसुप्त में वर्तते यद्यपि सुसुप्त अवस्था में ब्रह्म के साथ ही एक हो जाता है जीव सदा सौम्य तदा संपन्नो भवत ये श्रुति है हाँ, सांगे की श्रुति है उस काल में तो यह सौम्य ये जीव उस परमात्मा के साथ एक होता है अपने जीवन तो भान नहीं होता उस काल में स्मृति है ऐसे स्मृति होने से ब्रह्म के साथ ही एक है वो यद्यपि तथा कि फिर भी यहां पर भूताकाश लेने को बोला हृदय का शब्द से भूताकाश क्यों कहा होगा तथा कि की हृदयाकाश अवस्थान उस काल में ब्रह्म भी तो हृदयाकाश में भूताकाश में रहता है भूताकाश में ब्रह्म रहता है हृदयाकाश में ब्रह्म है उस में हृदयाकाश अवस्थानात तत्संपन्न होती तत्र इसलिए उस ब्रह्म में संपन्न हुआ व्यक्ति भी उसी में हृदयाकाश भूताकाश में ही है क्योंकि ब्रह्म भी तो भूताकाश में ही है हृदय में तो है उस काल में इसलिए उसमें संपन्न हुआ जो ब्रह्म में एक हुआ व्यक्ति है वो भी तत्र वर्तित हृदयाकाश भूताकाश वर्तित इति तथोक्तम इसलिए यहाँ हृदयाकाश का भूताकाश किया कहा यह कहा अन्यथा यदि यहां पर हृदयाकाश शब्द का अर्थ पर ब्रह्म यदि लेंगे अन्यथा यदि अर्थ करेंगे हृदयाकाश शब्द नहीं दहराधिकरण न्याय न विधान है यदि हृदयाकाश शब्द के द्वारा दहराधिकरण न्याय के द्वारा मैंने छांदोग्य के अष्टम अध्याय में दहर मंत्र आता है अथ यद अस्मिन ब्रह्मपुरे पुंडरिकम हृदय देश हाँ, देश में इत्यादि आता है उसमें दहरे अस्मिन अंतराकाश तस्मिन जो अंत स अन्य स्तभ्य सब इतिहास स्तभ्य ऐसा आया है पहले तो भूताकाश लिया दहर कमल लिया कमल के भीतर जो आकाश है वह आकाश के भीतर में जो वस्तु है उसको ढूंढना चाहिए कहा वहां दहराकाश शब्द से परक्रम को लिया हुआ दहर उपासना परक्रम लिया हुआ है यद्यपि करके बोलना चाहते हैं अन्यथा हृदयाकाश शब्द है नहीं वह हृदयाकाश शब्द के द्वारा धाराधिकरण न्याय ना ब्रह्म अभिधान है जैसे वहां ब्रह्म की चर्चा है धाराधिकरण में हृदयाकाश शब्द के द्वारा यहां भी ब्रह्म कथन करेंगे यदि हृदयाकाश शब्द के द्वारा ब्रह्म का कथन करेंगे तो क्या होगा तस्य त्रय स्वप्न यदि बक्षमान स्वप्न तुल्य तो अनुपत्ति फिर वो ब्रह्म यदि होगा हृदयाकाश शब्द का अर्थ तो आगे जो त्रय स्वप्न बोल रहा है ब्रह्म तो स्वप्न नहीं होगा ना वो घटेगा नहीं यहाँ आगे त्रय स्वप्न है तीनों अवस्था स्वप्न कहा है इसलिए भूताकाश ही लेना पड़ेगा यहाँ दहराधिकरण न्याय लगा युक्ति लगा करके पर ब्रह्म नहीं लेना होगा ये कहते हैं ठीक है अन्यथा हृदयाकाश समझे नहीं वह दाहराधिकरण न्याय ना जो तो दाहराधिकरण युक्ति है उसके द्वारा ब्रह्म विधान यदि ब्रह्म का कथन करते हैं तो करते तस्य त्रय स्वप्न यदि जो बक्षवाण है अभी अब ये भी बोले त्रय स्वप्न उसके तीन स्वप्न है कहा तीनों स्वप्न है कहा हुआ है ये घटेगा ब्रह्म होगा तो कैसे स्वप्न होगा वो तो सत्य होगा यही है त्रय स्वप्न यदि बक्षमाण स्वप्न तुल्य तो अनुपत बक्षमाण जो आगे कहे जो वाक्य है त्रय स्वप्न करके उसकी समानता नहीं आएगी इसलिए यहां पर समानता स्वप्न को लगाने के लिए ये कहना होगा हृदयाकाश शब्द का तो भूताकाश इतव पक्षांतर इसलिए बक्षमाणावा इत्यादि कहना चाहते हैं दो नंबर की टिप्पणी दहरा उत्तर का सूत्र है हाँ, इसका है अर्थ की आगे बक्षमाणावा करके बोल दिया था भाष्य में कहा था बक्ष बक्षमाणावा अथवा ये तीन स्थान है जागृत स्वप्न सुसुप्ति अथवा बक्षमाण पितृशरीर मातृगर्भाशय स्वशरीर तीन स्थान में चलता है जी जब तक संसार में होगा यहां आने के पहले माता के गर्भ में रहा था अभी ये शरीर में है ये स्थान में बैठा हुआ जीवन भर इसमें रहेगा इसके पूर्व में माता के शरीर में रहा उसके पूर्व में पिता के शरीर में था फिर इसके आगे भी यही होगा अभी यहाँ बैठा है पिता के शरीर में पहुंचेगा फिर माता के शरीर में पहुंचेगा फिर अपने शरीर में होगा इतने स्थान में घूमता रहता है संसार ये भी हो सकता है इस तरह से हो सकता है ये कहा था ठीक है मैं कहते हैं मनो आत्मा वही इधम एक एवं अद्वितीय उत्तर कथम आवश्यक योग यह शंका आती है आत्मा भाई इदम एक एवं अग्रे आशित नान्यत किंचन विशद ऐसा शब्द था एक ही था सजातीय विजातीय स्वगत कोई भेद नहीं था एक ही आत्मा ऐसा जिसके शुरू किया था उसके अभी निवास स्थान कहां से आ गया जब एक ही आत्मा है अन्य कोई नहीं उसके अवयव भी निर्वय है सजाती कोई दूसरा आत्मा भी नहीं है अन्य विजातीय भी नहीं है फिर अब यह स्थान कहां से आ गया आवश्यक यह शंका है मनो आत्मा वही इधम एक एवं इति अद्वितीय न अद्वितीय कहा हुआ है तो स्वगदादि भेद से रहित एक ही आत्मा बताया हुआ है ऐसे कहा गया जो आत्मा का प्रथम आवश्यक होगा फिर उस ऐसे आत्मा का निवास स्थान के साथ संबंध कैसे होगा कभी दाएं आठ में बैठना कभी कंठ में बैठना कभी हृदयाकाश में बैठना अथवा कभी पितृ शरीर में कभी मातृ शरीर में कभी अपने शरीर में कैसे होगा ये शंका आ गई इतिहास कहते हैं उत्तर देते हैं आप साधारण विषात्मा झूठा है किंतु जितने भी निवास बताया चाहे पितृ शरीर हो मातृ शरीर हो स्व शरीर हो ये भी झूठे हैं अथवा जागृत स्वप्न सुसुप्ति जो बताया वो झूठे हैं कल्पना है काली इसलिए कोई दोष नहीं आता वो एक ही है अभी भी जो सृष्टि के पूर्व में जैसा था अभी भी वैसा ही है सर्पकल्पना के पूर्व में रज्जु जैसा है सर्पकल्पना काल में भी रज्जु ही है वो रज्जु से अतिरिक्त नहीं रज्जु ही है उस काल में भी रज्जु ही है ज्ञानी की दृष्टि में रज्जु है अभी भी कुछ पीड़ा नहीं हुआ एक ही है वो आत्मा ये सारे होने पर भी कुछ भी नहीं हुआ रज्जु में जो जो कल्पना करते हैं जितने कल्पना करने पर तो रज्जु ही है वो ऐसा यहाँ आत्मा ही है कोई आत्मा भाई एकदम एक आग्रह आशित यही है यहाँ और कुछ अभी भी ऐसी स्थिति है एक वृषात्वाद बोल दिया आवश्यक वृषात्वाद ये जो आवश्यक कहा गया निवास स्थान बताया गया झूठे हैं इसलिए पारमार्थिक अद्वित्य तो अयोग है न पारमार्थिक अद्वित्य तो अयोग इसलिए वास्तविक पारमार्थिक अद्वित्य का अयोग नहीं होगा संबंध नहीं पारमार्थिक का नहीं होना संभव नहीं पारमार्थिक आत्मा है अभी भी कोई है यदि भक्तों त्रय स्वप्न यदि उत्तम ये तीनों स्वप्न है ऐसा कह दिया अभी भी आत्मा एक ही आत्मा है ये तो सारी कल्पना हो रही है ऐसा बताया ये कहा तद व्याख्या से उसी व्याख्या करते हैं त्रय स्वप्न इत्यादि राशि में कहा त्रय स्वप्न जागृत स्वप्न सुसुप्त्याख्या जागृत स्वप्न सुसुप्त तीन अवस्था में इसको घूमना है जब तक ये शरीर में है तब तक घूमता रहेगा अथवा तीन शरीर में घूमता रहता है अभी यहाँ आया हुआ है यह शरीर में है इसके पूर्व माता के गर्भाशय में था वो आवश्यक था उसका उसके पूर्व पिता के शरीर में था आगे भी यही चलेगा अभी यहाँ है आगे पिता के शरीर में पहुंचेगा जहां जिस यौन में जाएगा वो पिता हो जाएगा उसका उस शरीर में फिर उसके आगे मातृ शरीर में फिर अपना शरीर में तीन शरीर में घूमता रहेगा ये चलेगा अच्छा ठीक है मैं त्रय स्वप्न मैंने स्वप्न तुल्य तो कर स्वप्न जैसे ही है ये जैसे स्वप्न के पदार्थ सत्य नहीं होते वैसे भी सत्य नहीं यहां से जगे तो पता लग जाए स्वप्न से तो जग जाता है इसलिए उसको असत घोषित कर देता है मिथ्या घोषित करता है हाँ, जब आपको इसको असत देखना हो तो भिन्न सत्ता में जाए पारमार्थिक सत्ता में जाइए आप व्यावहारिक सत्ता में रह करके इसको निषेध नहीं कर पाएंगे समसत्ता में कभी निषेध होता नहीं है हम जब प्रातिभाषिक स्वप्न देख रहे थे स्वप्न में जब व्यावहारिक सत्ता में आ जाते हैं तब उसको मिथ्या घोषित करते हैं सत्तांतर में जाने के बाद ही तो पहले वाले को मिथ्या घोषित कर सकता है पहले प्रतीति काल में जो स्वप्न के वस्तु वो प्रातिभाषिक सत्ता में थे अभी व्यावहारिक सत्ता में आ गए आप जगे तब निषेध करेंगे उसको स्वप्न में बैठ करके स्वप्न के वस्तु का निषेध नहीं होता वहां तो सत्य होता स्वप्न मिथ्या ही नहीं बोल सकता वहां बैठकर सत्तांतर में जब आया जगह व्यावहारिक सत्ता में आया तब उसको निषेध करता है उसी प्रकार व्यावहारिक सत्ता को निषेध करना हो तो पारमार्थिक सत्ता में पहुंचना पड़ेगा तभी इसको निषेध कर पाएंगे आप यहां बैठ करके नहीं होगा व्यवहार से ऊपर उठना पड़ेगा आत्मभाव में जाना पड़ेगा तब ये तो जगत न था न है न होगा ऐसा बोल पाएंगे आप उसका पारमार्थिक सत्ता से निषेध होता है व्यावहारिक सत्ता से इस जगत का निषेध करना संभव नहीं सप्तांतर में जाना होगा ठीक है जाता है स्वप्न तुल्य करता है जागृत इति उपलक्षण जो जागृत कहा है ये उपलक्ष्य है कैसे तरह स्वप्न स्वप्न तुल्य वो दिया जागृत स्वप्न सुसुप्ति का जागृत उपलक्षण है किसका पितरादि शरीर प्रेम इस जागृत स्वप्न सुसुप्ति यही नहीं स्वप्न तुल्य तो पितृ शरीर मातृ शरीर स्वशरीर ये भी स्वप्न तुल्य है ये उपलक्षण है जागृत स्वप्न सुसुप्त्याख्या भाष्य में बोला उपलक्षण है ये माने दूसरे वाला भी लेगा जो पितृ शरीर मातृ गर्भाशय स्वशरीर ये भी स्वप्न तुल्य है ये कहा तेसाम स्वप्न तुल्यतम नास्ती थी शंका है पूर्वादी शंका करता है कि महाराज ये जो पितृ शरीर मातृ शरीर मातृ गर्भाशय और स्व शरीर ये तो स्वप्न जैसे नहीं है ना ये तो हमेशा ही है कैसे स्वप्न जैसे कहेंगे तेसाम स्वप्न तुल्यतम नास्ती संकट शंका करता है ननु जागृतम प्रबोध रूपता न स्वप्न वास्तव में कहा जागृत अवस्था तो स्वप्न रूप है एक है प्रबोध रूप है जगा हुआ अवस्था है इसको स्वप्न कैसे कहेंगे ये शंका आ गई तो सिद्धांति नैवम कहेंगे ठीक है अतः शरीर त्रय में उपलक्षित यहाँ जागृत में भी यही है जागृत से भी क्या लेना है जागृत को स्वप्न तुल्य नहीं होता तो तीन शरीर में स्वप्न तुल्य नहीं होता जो पितृ शरीर मातृगर्भाश है स्वशरीर ये भी स्वप्न तुल्य नहीं गुणवादी की शंका में आएगी ये कहा अत्रापि शरीर त्रय में उपलक्षित तत्प्रबोध से स्वप्न प्रबोध तुल्य स्वप्न में क्या है सिद्धांत बोलते हैं जो जागृत आदि का प्रबोध है ना स्वप्न का प्रबोध है स्वप्न में दो अवस्था हो जाती है कभी कभी स्वप्न में हम बात करते हैं मैंने रात में स्वप्न देखा करके एक कुछ सुनाते हैं माने उस काल में हम जागृत समझते हैं अपने जागृत में समझते हैं स्वप्न में भी स्वप्न की बातें चलती है कल मैंने स्वप्न देखा था कहा बोल रहा है स्वप्न में बैठकर बोलता है तो उस जो जिस अवस्था में वो बोल रहा है उसको जागृत समझ रहा है अब उस अवस्था को जागृत समझता है और जो स्वप्न देखा करके बोलता है उसको स्वप्न समझता है यही कहते हैं ये बोलते हैं तत्प्रबोध है जो जागृत का प्रबोध है स्वप्न का प्रबोध जैसा है स्वप्न को भी जागृत समझता है व्यक्ति वहां भी स्वप्न की चर्चा करता है स्वप्न में भी कल स्वप्न में मैंने ऐसा किया वो किया बोलता है तो वो स्वप्न के प्रबोध जैसा ही है जागृत स्वप्न भी प्रबोध भी जगा हुआ ऐसे जैसे स्वप्न में जगा हुआ होता है कभी कभी हाँ, वहां भी स्वप्न की चर्चा करेगा तो वो अवस्था को जगा हुआ समझता है अपने को मैंने स्वप्न में ऐसा देखा था करके अपने मित्रों से चर्चा करेगा तो वो बोलते हुए समय को जागृत समझता है तो स्वप्न प्रबोध जैसा ही प्रबोध है ये भी मिथ्या है वो वो स्वप्न का प्रबोध मिथ्या है ना वो तो, तो ये भी ऐसा ही है कहा तत्प्रबोध समय जागृत प्रबोध अवस्था है स्वप्न प्रबोध अथवा तीन शरीर सत्य है कहा था पूर्वादि ने वो भी ऐसा ही है स्वप्न में पितृ शरीर मातृ शरीर अपना शरीर वहां से इधर आए और दिखते नहीं है वो भी मिथ्या ही होता है ठीक है नैवम ये सिद्धांत बोल दिया ऐसा नहीं कहना स्वप्न है वह ये भी स्वप्न ही है चाहे तीनों अवस्था हो चाहे तीनों शरीर हो स्वप्न ही है मैंने स्वप्न जैसा ही है ये भी स्वप्न ही है कहा ठीक है तथा प्रसिद्धि नास्ती संग महाराज इसको स्वप्न करके लोग नहीं बोलते हैं जागृत अवस्था को अथवा तीन शरीरों को कैसे स्वप्न कहेंगे पितृ शरीर मातृगर्भाशय अथवा स्व शरीर कैसे स्वप्न कहेंगे इसको ये प्रसिद्ध नहीं लोग में शंका करता है कथम शंका कर दी उत्तर देते हैं अभिवेक अविवेकी नाम तथा प्रसिद्धि अज्ञानी को ऐसा प्रसिद्धि नहीं है स्वप्न करके प्रसिद्धि नहीं है जागृत अवस्था को स्वप्न नहीं मानते अज्ञानी लोग अभिवेकी लोग अज्ञानी अविवेकी नाम तथा प्रसिद्ध अभावी तथा माने स्वप्न रूपे ना स्वप्न रूप से प्रसिद्धि नहीं होने पर भी जागृत मानते हैं उसको होने पर भी विवेकी नाम तलक्षण जागृत अपनी तथा विवेकी के लिए वही स्वप्न का ही लक्षण है जागृत अपनी जागृत भी स्वप्न के लक्षण है स्वप्न के लक्षण नहीं है तथा तथा भूतम एवं स्वप्न भूतम एवं विवेकी के लिए तो जागृत अवस्था भी स्वप्न स्वरूप ही है जो उसी का लक्षण करता है ब्रह्मस्वरूप तिरोधान क्यों ब्रह्मस्वरूप का आच्छादित है अन्यथा और स्वप्न ये स्वप्न अवस्था ये जागृत हुए अन्यथा ग्रहण हो रहा है आत्मा को ढका हुआ है रूपांतर दिख रहा है अविद्या की महिमा ऐसी होती है उसके दो शक्ति विशेष हैं आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति आवरण शक्ति ने अपना स्वरूप को ढक दिया अविद्या के आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति ने रूपांतर कर दिया मनुष्य रूप दिखा दिया पहले आवरण शक्ति ने स्वरूप ढक दिया और विक्षेप शब्द रूपांतर कर दिया मनुष्य रूप में दिख रहा है तो स्वप्न ही है ग्रहण हो रहा है यही है यही कहते हैं <clears throat> ये कहा अभिवेकी नाम तथा प्रसिद्ध अभाव है भी अभिवेकियों के लिए स्वप्न एक जागृत आदि को स्वप्न रूप से प्रसिद्धि नहीं है अथवा तीन शरीर को स्वप्न रूप से प्रसिद्धि नहीं है अभिवेकी होने पर भी विवेकी नाम जो विवेकी के तल लक्षण स्वप्न लक्षण जो स्वप्न का लक्षण है वह अभी जागृत अवता भी स्वप्न के लक्षण में है क्यों अब हाँ, पाठ छूटा होगा तब ये टिप्पणी लगेगी आगे हाँ वस्तु तत्व तिरोधान है असत वस्तु प्रतिभा असत वस्तु प्रतिभा यही है माने ये इसका स्वप्न का लक्षण यह है वस्तु तत्व तो प्रतिधान तिरोधान है हाँ असद वस्तु प्रतिभान होना ये ये स्वप्न का लक्षण ये बताया हाँ ये पाठ लगना तभी तीन नंबर टिप्पणी होगी तीन नंबर हाँ नहीं तो टिप्पणी है ही नहीं है तो माने क्या होगा वस्तु स्वरूप का तिरोधान हो जाने पर और असद वस्तु का प्रतिभान होना यही स्वप्न है सद वस्तु का तिरोधान हो जाना स्वरूप तिरोधान होना तिरोधान माने नाश नहीं होना है दब जाना छिप जाना और असत वस्तु का भाष होना यही तो स्वप्न का लक्षण है तो यह लक्षण यहां भी है जागृत में है देखा नहीं नहीं इसमें तथा प्रसिद्धि अभावे की फिर आगे आगे जा करके नाम ज्ञानम उस लक्षण के जानने वाले वहां से ऐसा हाँ। फिर आगे नहीं नहीं नहीं स्वामी जी जो बोल रहे हैं पाठ ठीक है पहले पाठ का अविवेकी नाम तथा स्वप्न लक्षण तथा प्रसिद्ध अस्तित्व परमार्थ फिर परमार्थ कहाँ है भाषा में परमार्थ परमार्थ परमार्थ स्वात्म प्रबोधा भावा पाठ कर अच्छा। तो अवेवे की नाम तथा प्रसिद्ध भी विवेक की नाम तल लक्षण सत्वाद सा होगा उसका लक्षण होने से मैंने यहां वो लक्षण क्या है तो वो स्वामी जी जो बता रहे थे लक्षण सद वस्तु तिरोधाने सती असद वस्तु प्रतिमान ये ये स्वप्न का लक्षण है ये वो यहां भी जागृत में बोलना चाहते हैं ये कहा तो तथा भूतम ब्रह्मस्वरूप तिरोधाना उस प्रकार के जो ब्रह्मस्वरूप है सदवस्तु है उसका स्वरूप का तिरोधान है और असत वस्तु का प्रतिभान हो रहा है शरीर आदि दिख रहा है प्रतिभास हो रहा है तो अवित्यमान जगत प्रतीत है यही उसका अर्थ कर दिया जो सद वस्तु है वो उसका तो तिरोधान हो रहा है ब्रह्म का और असत वस्तु जो शरीर आदि है उसके भान हो रहा है यही तो स्वप्न का लक्षण है ये बताया प्रतिदेश से करता है कहा इसमें तीन नंबर टिप्पणी दिया तो- दिया है इसे वस्तु तत्व तिरोधाने और असत वस्तु प्रतिभाना प्रतिभाषा चाहिए तो है ना तो उसका अब टिप्पणी लग जाएगी तीन नंबर टीका में पाठ छूटा हुआ है तीन नंबर का नहीं जागृत स्वप्नो नाम संभवित थी विदुषोपी द्वैतावासो को महाभूत स्वप्न की प्रथम ये जो दो हेतु में दो विशेषण दिया हुआ है विशेषण और विशेष अंश है असत वस्तु प्रतिभाने सती वस्तु तत्व तिरोधाने सती वस्तु तत्व का तिरोधान होने पर असत वस्तु का प्रतिभान होना असत वस्तु प्रतिभान होना विशेष है और वस्तु तत्व का तिरोधान होना विशेषण है वो विशेषण क्यों दिया ये बोलना चाहते हैं वो जो हेतु में विशेषण और विशेष से लगाया हुआ है उसको दिखाना चाहते हैं नहीं जागृत और स्वप्न नाम संभवती थी माने पूर्वादि कहना चाहता था जागृत स्वप्न नहीं हो सकता है क्यों विदुषों भी द्वैता आवास हो बलम विवेकी है उसको भी द्वैता का आवास तो ज्ञान होता ही है ना नहीं है मिथ्या वस्तु का है नहीं है असत वस्तु का है भाई आवास महाभूत स्वप्न थी वो पूर्वादि कहता है स्वप्न न हो जागृत वस्तु माने ज्ञानी को भी तो वस्तु का आवास तो होता ही है ना इसलिए स्वप्न में हो जागृत कालीन वस्तु ये शंका उठाई तब कहा नहीं वस्तु तत्व तिरोधान सती कहा प्रथम दल दिया वस्तु तत्व का तिरोधान हो रहा है वास्तव में जो वस्तु है ढका हुआ आच्छादित है आत्मा ब्रह्म और असद वस्तु का प्रतिभा शरीर आदि का प्रतिभाष है बोला प्रथम दल इसलिए दिया वस्तु तत्व तिरोधान सती इसलिए दिया पूर्वादि शंका कर सकता था नहीं जागृत स्वप्न होना संभव थी जागृत द्वय स्वप्न हो नहीं सकता क्यों विदुषोपी द्वैताभाष उपलब्ध ज्ञानी को भी द्वैताभाष की उपलब्धि होती है तो कैसे उसको असत कहेंगे ये ये ये शंका को हटाने के लिए वस्तु तत्व तिरोधान सती का प्रथम दल इसलिए दिया अब सुसुप्त अतिव्याप्ति बारणाय अशब्द प्रतिभाष है सुसुप्ति में क्या होगा किसी का भी भाष नहीं होता है इसलिए असद वस्तु प्रतिभाषा कहा असद वस्तु का प्रतिभाष हो रहा है सुसुप्ति में किसी का भाष नहीं होता आभास नहीं होता या असद वस्तु का प्रतिभाष भी है सुसुप्ति से व्यावृत्ति करते कहा सुसुप्त अतिव्याप्ति आया असद वस्तु प्रतिभाषा नहीं बोलते केवल इतना बोल देते कि सद वस्तु तिरोधान उस काल में वस्तु तत्व तो तिरोधान है तिरोधान स्वप्न वस्तु तत्व सदवस्तु तिरोधान स्वप्न इतना ही बोलते हैं तो वहां सुसुप्ति में भी तिरोधान है आत्मा का भान नहीं है वो भी स्वप्न में आ जाता है उसको व्यावृत्ति करना सुसुप्ति से अलग करना है इसलिए कहा यह सुसुप्त आया असत वस्तु प्रतिभाषा था असत वस्तु की प्रतिभाष भी होना चाहिए सुसुप्ति का तो ऐसा नहीं है हाँ, वहां कोई भी वस्तु का प्रतिभाष नहीं प्रतिभाष इंद्रिय का विषय कराइए कहते हैं प्रतिभाष होना मैंने इंद्रियों का विषय होना इंद्रियों का विषय बनते हो ऐसा लेना चाहिए कहते हैं तेरह सुसुप्त अविद्या भाने भी नहीं कहते हैं आत्मा का प्रतिभा आत्मा अविद्या को भान करता है सुसुप्त में हाँ। सदवस्तु तिरोधान भी है और असद वस्तु का प्रतिभाष भी है अविद्या का प्रतिभाष है तो स्वप्न का लक्षण चला गया कोई अब नहीं कर सकता क्यों जो प्रतिभाष कैसा लेना इंद्रिय ग्राह्य लेना सुसुप्ति के जो अविद्या ग्रहण है इंद्रिय ग्राह्य नहीं जैसे इसलिए वहां से भी निवृत्ति हो जाएगी कहा प्रतिभाष तेरह सुसुप्त अविद्या आने भी नक्षति परम त्रय स्वप्ना मूल विरुद्धम ये कहते हैं ये जो परम वास्तव में ये है त्रय स्वप्ना जो है ना मूल विरुद्ध है तथो तो बाध्यत्व मूल में कहा त्रय स्वप्ना कह दिया है इसलिए जागृत को सत्य बोलना संभव नहीं है ये क्या बाधित दोष लग जाता है पूर्वादी का अनुमान में बाधित दोष लग जाएगा क्यों मूल में त्रय स्वप्ना बोला मूल में बोला हुआ है तो स्वप्न करके बोला हुआ है तो श्रुति का विरोध होने पर बाध दोष आ जाएगा पूर्वादी का अनुमान में हेतु आवास हो जाएगा ये कहा बाध्यत्व में एवं मूल अनुगुण मूल के अनुगुण तो बाध्यत्व ही है बाध दोष ही आएगा हेतु आवास बनेगा तो मूल में बोल दिया त्रय स्वप्न बोल दिया है फिर यहां बात करने की बात ही नहीं जो श्रुति ने बोलते तीनों स्वप्न है फिर उसको जागृत को प्रबोध रूप होने से कैसे स्वप्न होगा संज्ञा ही नहीं कर सकता व्यक्ति आगे अंतरम यण मनस तद द्वितीय इसके भीतर दूसरी अवस्था अंतरम अंतरम का अर्थ कंठांतर्गतम कंठ के भीतर में जो मन है उसका अर्थ कोई कंध द्वितीय अवस्था इसलिए आवश्यक है ये द्वितीय आवश्यक है इसलिए अनुभव ऐसा हमने करना था अयम आवश्यकता इत्यादि का अर्थांतरम न चलते जो तो तीन बार बोला अयम आवश्यकता अयम आवश्यकता अयम आवश्यकता ये भिन्न विषय में एक ही विषय है अर्थांतरम नोचते भिन्न विषय को नहीं कहते इस शब्द के द्वारा प्रासाद भूमिकावत उपरी अदोभावे न स्थिताई व चक्षुरादय अंगुलिया निर्जय देखो जैसे छत और भूमि ऊपर नीचे भाव में होते हैं इसी प्रकार सबसे ऊपर में आंख है पहला स्थान जागृत उसके बाद कंठ है उसके बाद हृदय है ये ऊपर ही भाग में है इसलिए अयम अयम अयम करके दिखाया ये कहते हैं क्या अयम आवसन इत्यादि तीन बार कहने से कोई विषयांतर नहीं है क्या है ये प्रासाद भूमि का आवत जैसे प्रासाद छत ऊपर होता है भूमि नीचे होती है तो जैसे क्रम से आ जाता है वैसे हमें क्रम बताया ये कहते हैं ऊपरी अधोभाव अथिता ये ऊपरी अधोभाव से हैं सबसे ऊपर चक्षु हो गया आंख हो गया गोलक हो गया उसके नीचे कंठ हो गया उसके नीचे हृदय हो गया उधर ऊपरी अधोभाव स्थिता एक चक्षुरादयो अंगुल्या निर्दिष्ट प्रदर्शित है ऊपरी अधोभाव के द्वारा रहने वाले जो चक्षुरादि है तीन है चक्षु कंठ हृदय इसी को यहाँ पर इन शब्दों अयम अयम इदम शब्द द्वारा इनका निर्देश किया जाता है एक बाह्य अवसत भ्रांति बार आया इदम इदम बाह्य घर तो नहीं कहें बाहर के घर के मकान इस आत्मा का उसके नियुक्ति के लिए नहीं नहीं वो घर नहीं इसका आत्मा का घर तो यही होता है वो तो शरीर का घर है बाहर वाला तो शरीर रखने के लिए घर है आत्मा का घर तो यही है बस तो तीन घर में घूमता रहता है जागरूक स्वप्न सुसुप्ति हाँ, नहीं घूमना है इसमें जीवन भर और अथवा पूरी माने जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक ये तीन शरीर में घूमता रहेगा नहीं तो पितृ शरीर मातृ गर्भाशय है अथवा स्वशरीर इसमें घूमना है बस और कहा जाना है इसमें तीन इतनी है इसका अब यहां से जब जाएगा किसी न किसी पिता के शरीर में प्रवेश करेगा फिर माता के गर्भ में पहुंचेगा फिर अपना शरीर में रहेगा कुछ दिन यही चलेगा ये तीन ही घर को तो है चौथा घर इसका नहीं होगा आगे कहते हैं ननु आवसत शब्द से गृह विशेष वाचिना कथम अक्षादिशु प्रयोग आवसत शब्द का अर्थ घर होता है मकान होता है गृहवाचक होता है आवसत माने आवसती अश्विन की आवश्यक जिसमें आकर के लोग रहते हैं उसको आवसत बोला जाता है तो गृहवाची शब्द है ये गृह विशेषवाची माने जहां मनुष्य आदि रहते हैं उसी को आवसत बोला जाता है फिर कथम अक्षादिशु प्रयोग ये आठ आदि में कैसे प्रयोग कर दिया आवश्यक शब्द का प्रयोग दाहिने आठ हृदय कंठ इनमें कैसे प्रयोग कर दिया यह शंका करके कहते हैं आवसथस्थ ये सुखित जैसे आवस्थ आवसथ में रहने वाला होता है वैसे ही है यहाँ आवसथे स्थित आवसस्थ आवसस्थ था ऐसा है आवसथ में रहने वाले को आवसथस्थ बोलते हैं जैसे गृहस्थ वैसे आवसथस्थ जैसे घर में रहने वाले की स्थिति होती है वैसे ही इसकी स्थिति है आवसस्थस्थ एवं ये सुथित ये तीनों में रहने वाला जो होगा स्थितस्य दीर्घ निद्रा दर्शनार्थ लंबे समय तक निद्रा देखी गई है घर में सोता रहता है कुछ काम नहीं करता भैया घर मिलेगा सोता रहेगा भजन पहाड़ का फल मिल गया उसको सोता रहेगा ऐसे होता है दीर्घ निद्रा दर्शनार्थ लंबे समय निद्रा लंबी निद्रा देखी गई है बढ़िया बिस्तरा हो बढ़िया मकान हो ज्यादा सोएगा तो यहां भी ऐसी स्थिति आ जाती है तेसु सुखम सुप्त से जैसे उन घरों में बाहर के घर में आराम से सोता है व्यक्ति इसलिए अपने ढंग से अनुकूल घर बनाता है आराम से सोने के लिए किसके लिए सोने के लिए बढ़िया सोने के लिए और कोई काम नहीं उसका यही उद्देश्य होता है बढ़िया घर बनाने का होता तेसु सुखम सुस्त से उन घरों में जैसे सुखपूर्वक सोया हुआ व्यक्ति होता है सुंदर मकान बनाया मजबूत बनाया अपने ढंग से बनाया ऐसे घर में सोता है शीघ्र प्रबोध अदर्शनार्थ वहां आराम से सोया हुआ व्यक्ति बाहर से कोई बुलाएगा तो जल्दी सुनेगा नहीं निद्रा में पड़ा मस्त है ठीक इसी प्रकार यहां भी वेदांत वाक्य बोल रहा है तत्व मसीह तत्व मसीह अरे तू वहां मानसा पुतला नहीं है उठ उठ बोल रहा है उठेगा नहीं यहां से हाँ। उठने को तैयार नहीं है कितने दिनों से चिल्ला रहा बाहर से वेदांत चिल्ला बाहर ही बाहर है वेदांत उठता नहीं जैसे उन बाहर के घरों में सोया हुआ व्यक्ति लंबे समय तक सोता है इसी प्रकार इसी प्रकार शीघ्र प्रबोध आदर्शनाथ शीघ्र प्रबोध नहीं है जगता नहीं है व्यक्ति इस घर से जगता उठता नहीं व्यक्ति ये तीनों में सोने की आदत बन गई इसकी घूम रहा है इसलिए गौण्या आवश्यक आवश्यकत्व इसलिए गौण वृत्ति से इसको घर बता दिया है रहने का स्थान बताया है मुख्य आवश्यक तो नहीं है ये गौण वृत्ति है कहा केसु ही अयम इत्यादि कहा वास्तव में तेसु वयम ये तीनों घरों में ये जागृत स्वप्न सुश्रुति तीन घर है अथवा पितृ शरीर मातृ गर्भाशय अपना शरीर इन घरों में तेसु अयम आवश्यकेशु इन्हीं घरों में यह, यह जीव पर्यायण है न बताना पर्याय करके कभी इसमें कभी उसमें कभी इसमें एक ही काल में तीनों में नहीं रहेगा भिन्न भिन्न काल करके रहेगा पर्याय और जब पहुंचेगा तो मेरा घर नहीं समझता मैं ही यही हूं समझता है आत्मभाव से रहता है है ना वर्तमान में अविद्या दीर्घ कालम गाढ़म प्रसुत अविद्या के कारण लंबे समय तक सोया सो रहा है मस्त है इसे वेदांत वाक्य जगाना चाहता है जगने को तो तैयार नहीं अच्छी निद्रा आ रही है प्रातकालीन निद्रा है इसमें बढ़िया निद्रा है सोया हुआ है स्वाभाविक क्या वो अविद्या स्वाभाविक ही अविद्या उसे सोया हुआ है न प्रबुद्ध थे ये जगता नहीं है यद्यपि दुखी दुख भोग रहा है या सुख नाम की वस्तु नहीं है चाहे पितृ शरीर में जाए चाहे मातृ शरीर में हो चाहे स्व शरीर में हो दुख छोड़ करके कुछ नहीं मिलता इसको अनेक शत सहस्त्र अनर्थ संपात जब दुख मुद्रा विघाता भोगी गपी कहा अनेक प्रकार के कष्ट झेल रहा है अनेक प्रकार के सैकड़ों सन्निपात जन्य जो दुख है कष्ट है दुख रूपी जो मुदगर है गदा है उसके द्वारा पीटा जा रहा है दुख के बाद दुख दुख के बाद दुख हो रहा है फिर भी उठने को तैयार नहीं है ऐसा कहा है मैं कहते हैं स्वाभाविक्या अविद्या अन्वय तो स्वाभाविक्या का अविद्या के साथ अन्वय कर देना कहा <clears throat> अनुभवी इति अनंतरम इति एक आवश्यकता इति उच्चते जैसा अनुभवी क्या आगे ये पाठ लगा देना इति एते अवस्था इसलिए इतने जगने तो जगता नहीं है इसलिए आवश्यक है दुखी दुख मिल रहा है फिर भी उठने को तैयार नहीं है इसलिए आवश्यक है इसको ये बता आगे कहते हैं जागृता जागृतादिकम भूत कार्य से कार्यक्रम संघात से धर्म जागृत आदि अवस्था जो है ना आत्मा का धर्म नहीं है ये तो भूतों का कार्य है भूतों का कार्य जो शरीर इंद्रिया इसका धर्म है जागृता की अवस्था आत्मा को कैसे बोल जाए ये घर में सोता है क्योंकि भूतों का जो कार्य है कार्यक्रम संघात शरीर इंद्रिय संघात उसके धर्म है तो जागृतादि अवस्था ये पूर्वादि का काम मन जागृताधिकम भूत कार्य कार्यक्रम संघात से धर्म जो भूतों का कार्य है पंचभूतों का कार्य कार्यक्रम संघात है शरीर इंद्रिय समुदाय है इसका धर्म है जागृतवादी अवस्था न तो आत्मा आत्मा का धर्म तो है ही नहीं है अवस्था जागृत स्वर्ण सुसुप्ति न तो आत्मा योग्य टिप्पण कहा तद भिन्न से की आशंका यदि शेष न तो आत्मना तद भिन्न से देहादि भिन्न से भूतकारी भिन्न से यह शेष है वह उसके धर्म नहीं है तद भिन्न से तो ऐसा पूर्वादि बोलेगा तो सिद्धांति कहते हैं तद भिन्न से ठीक है देहादि संघात से अतिरिक्त होने पर भी यद्यपि आत्मा देहादि संघात से देह इंद्रिय संघात से अतिरिक्त भूतों का कार्य से अतिरिक्त है भौतिक नहीं है यह ऐसा होने पर भी तद भिन्न से अभी देह इंद्रिया से भिन्न होने पर भी तस्मिश तादात्म्य अभिमान उसमें तादात्म्य तो कर रहा है ना शरीर आदि में शरीर इंद्रियादि में तादात्म्य कर रहा है तादात्म्य अभिमान मैं मनुष्य हूं करके बोल रहा है तादात्म्य करके बोल रहा है मैं देखता हूं कहता है आंख के साथ तादात्म्य कर जाता है मैं सुनता हूं कान के साथ तादात्म्य कर सुनने वाला कान है उसमें एकता करके बोलता है मैं भूखा हूं प्राण के साथ तादात्म्य करके बोलता है मैं सुखी हूं मन के साथ तादात्म करके बोलता है मैं ज्ञानी हूं बुद्धि के साथ तादात्म करता है सबके साथ तादात्म इत्यादि उससे भिन्न है फिर भी अपना स्वरूप वही समझता है शरीर आदि को अपना स्वरूप समझता है तद भिन्न से अभी मान देह इंद्रियादि से भिन्न होने पर भी आत्मा तस्वीर तादात्म्य अभिमान शरीर इंद्रियादि में तादात्म्य के अभिमान होने के कारण से तब धर्मवत्तम तादात्म्य करने से उसका धर्म को अपना धर्म मान लेता है जागृवादी अवस्था यदि भी आत्मा का धर्म नहीं है शरीर का है फिर भी शरीर के साथ एकता करने के कारण शरीर के धर्म को अपना धर्म मानता है यही कहना है इसलिए सजात यदि वाक्य हम तब करते हैं आगे सजात इत्यादि वाक्य आना इसकी व्याख्या करना चाहते हैं मंत्र है आगे सजातो भूतानी अभिपेक्षत किम यह अन्यम बावदी सत स एकमेव पुरुषम ब्रह्म तथम अपश्यत इदम अदर्शम इति सजातो भूतानि अव्यवैख्यत किम यह अन्य अन्यम बावदेशदीति स एतमेव पुरुषम ब्रह्म तथम अपश्यत इदम अदर्शम स जाता जब ये पैदा हो गया मैं शरीर भाव में आ गया जब शरीर में आना पैदा होना है इसको जब शरीर में आ गया शरीर के साथ एकता कर गया तो इसके बाद क्या होता है भूतान अपेक्षक भूतों के नाम से ही अपना नाम पुकारने लग गया है मनुष्य यह है मैं मनुष्य हूं कहने लग गया मैं पुरुष हूं मैं स्त्री हूं ऐसा बोलने लग गया जिस शरीर में जाता है उसी भूत के नाम से अपना नाम पुकारने लग गया ने अभिवेख्या भूतों के साथ ही एकत्व तो होकर के बोलने लगा अपना अपना परिचय उसी से देने लगा मैं एक मनुष्य हूं उत्तरकाशी में रहने वाला हूं ऐसे बोलने लगे उत्तरकाशी में भूत रह रहा शरीर रह रहा है तो अपना उसके साथ एकता करके बोलने लग गया शरीर में आने के बाद स्थिति हो गई उसकी किम यह अन्यम यह अन्य वस्तु है ही नहीं ऐसा मानता हूं कोई आए नहीं यही है जो कुछ है यही है जो शीशा में दिखाई पड़ता है यही है क्यों यह अन्य अन्य है ना तो यही है जो कुछ है यही है मैंने अपने बारे में सोच है नहीं उसको जो शरीर के साथ एकता कर गया है क्यों यह अन्यम बावदिशत ऐसा बार बार बोलता रहा है बावदिशत बद धातु से यंगलुक करके सम करके बनाया हुआ है बार बार बोलने की इच्छा की यही है इससे अतिरिक्त तो कुछ ही नहीं ऐसा बोलने की इच्छा अब ऐसे जो शरीर के साथ एकता प्राप्त किया हुआ व्यक्ति है वो आत्मा वही आत्मा कभी जब पुण्य कर्म जगा उसका तो करुणायु तो गुरु मिल गए उसको कारुणपुरी के द्वारा जब उसको उपदेश मिला तुझे तो हड्डी मांस का पुतला इस शरीर तो नहीं है तो सच्चिदाना आत्मा है इस रूप से जब उपदेश हुआ तो मसी आदि वाक्य सुनाया गया उस काल में जब जगता है तो फिर क्या होता है जगा तो स एतम एक पुरुषम ब्रह्म तथम तत्वन अपश्यत कहा फिर इसी पुरुष जो ब्रह्म है इसी रूप में अपने को देखा जो बृहद व्यापक रूप में अपने को देखा परिचन्न भाव में नहीं देखा जगने पर जब शरीर में आया तो शरीर के साथ एकता करके अपने को शरीर से ही परिचय देने लगा उसी नाम से पुकारने लगा जब वो जगा कुछ पुण्योदय हो गया कोई गुरु कारुणिक गुरु मिल गए उनके द्वारा उपदिष्ट हो गया तो मसी तुम तो आज सचिदान आत्मा हो तो हड्डी मांस का पुतला नहीं हो ऐसा उसके मन में बात बैठ गई जब बैठता है तो फिर अपने को बृहद ब्रह्माकार वृत्ति में पाता है एकम एव पुरुषम यही पुरुष ब्रह्म जो ब्रह्म है तततमम विस्तृत अत्यंत विस्तृत है जो ऐसा ब्रह्म रूप से अपश्यत अपने को देखा मैं सचिदान आत्मा हूं इस रूप से देखा था मैंने साधना के पश्चात ऐसा देखा इदम अदर्शम इति इति कहा इसको मैंने देख लिया ऐसा कहा इस आत्मस्वरूप को मैंने जान लिया ऐसा कहा अंत में ये बोलता है कहा तो इति में जो इति के आगे जो अनुनाशिक बना रखा इकार अणु अप्रक्रिय से ऐसा व्याकरण सूत्र है अप्रक्रिय जो अणु होगा उसको अनुनाशिक हो जाता है ये कहा व्याकरण की दृष्टि से है इति इति में जो अनुनाशिक कर रखा है इसीलिए कहा इतिम यदि अणो अप्रग्रिय से अनुनाशिक यदि अनुनाशिकत्व अनुनाशिक बना रखा है अप्रग्रिय जो अण होगा यहाँ इति के जो इकार है वो अप्रग्रिय अण है प्रग्रिय संग नहीं बनी थी उसकी अप्रग्रिय अण है वो अनुनाशिक हो गया अणो अप्रग्रिय से अनुनाशिक क्वचित लिखित पुस्तकें तो अनुनाशिक रेखा नोपल होते थे कहीं कहीं लिखित पुस्तक में जो यहाँ पर अनुनाशिक जो दिया है चिन्ह वो चिन्ह नहीं मिलता है तो टीका में कहते हैं ये कहना चाहते हैं नौ जागृत आदिगम भूत कार्य कार्यक्रम संघात धर्म एक जागृत अवस्था जो तो भूतों का कार्य जो शरीर इंद्रिया का धर्म है आत्मा का तो है ही नहीं तो उत्तर देते हैं सिद्धांति तद भिन्न से आती यद्यपि आत्मा उसे भिन्न है कार्यक्रम शरीर संघात से भिन्न होने पर भी तस्में तादात्म्य अभिमान शरीर आदि में तादात्म्य इसका होने से तब धर्मवत्व तादात्म होने के बाद उसका धर्म उसका आरोप होकर के हो जाता है बोलने लग जाता है जागृत आदि इसका धर्म माना जाता है तादात्म जैसे अयपिंड में अग्नि तप्त हो जाता है तो अयोधहती का प्रयोग कर देते हैं लोहा में जलाने की शक्ति नहीं है किंतु तो अग्नि के साथ जब एकता हो जाती है उसकी अग्नि का प्रवेश हो जाता है एकता होने पर वो जो अग्नि के कहा तत्व को लोहे में प्रयोग कर दिया जाता है और लोहे के जो गोलाई है वर्तुलाकार है वो अग्नि में अग्निर वर्तुला ऐसा बोल देते हैं आग बोल तो होता नहीं आग को गोल बोल देते हैं और लोहे को जलाने को बोलते हैं चिमटा ने जलाया बोलते हैं लोहे में जलाने की शक्ति नहीं अग्नि है अग्नि के साथ आधार में प्राप्त किया है उसने इसलिए अग्नि का धर्म उसने आरोप करके बोला जाता है ऐसा यहां भी है आत्मा का धर्म न होने पर भी शरीर आदि भूतों का कार्य शरीर आदि के साथ आत्मा का तादात होने से वो धर्म शरीर आदि का धर्म जागृत आदि धर्म आत्मा ने मान लिया है इसलिए जागृत स्वप्न सुशुक्ति वाला धर्म हो जाता है ये कहा इसके लिए कहा सजात इत्यादि तादात्म दिखा रहे हैं सजात इत्यादि कहा भूतान एवं आभिमुखे न तादात्म न सामने करके भूतों को ही दिखाता है भाई यही हूं करके बोलता है तादात्म करके बोला उसने बोला सजातो भूतानी अभिपेक्षक अपने को उसी रूप से परिचय देने लगा अपना स्वरूप भूल गया शरीर के माध्यम से परिचय देने लग गया यही है भूतानी एवं आभिमुख्य न सामने इसी को करके अपने सामने कर नहीं पाया इस शरीर को ही सामने करके यही है जो कुछ है ये आभिमुख्य ना तादात्म ना तादात्म करके क्या करो मानी व्यक्तम ज्ञातवान स्पष्ट रूप से जाना इसने अपने को शरीर रूप से ही जाना आने पाया और उक्तवाश्च और कहा भी इसने केवल जाना ही नहीं मनुष्यो हम ऐसा बोल दिया हाँ। मैं आत्मा नहीं हूं मैं मनुष्य हूं मनुष्यो हम काणो हम चक्षु का धर्म ला के बोला इसने मैं काणा हूं जिसका एक आंख ना हो उसको काणा बोलते हैं काणो हम माने सूक्ष्म शरीर का धर्म का आरोप किया पहले मनुष्य हमने स्थूल शरीर का धर्म आरोप किया स्थूल शरीर के साथ एकता करके उस धर्म का आरोप करके मनुष्य हम बोल रहा है और काणो हम का जैसे चक्षु के साथ एकता करके चक्षु का धर्म है काणा तो धर्म उसको लाके काणो हम मैं काणा हूं ऐसा बोलता है काणो हम सुखी हम मन का धर्म आरोप करके बोलता है सुख मन का धर्म है तो मैं सुखी बोलता है मन के साथ एकता करके मन के धर्म आरोप करके बोलता है सुखी हम इत्यादि प्रकार है इस प्रकार छित उपासित तो हम बोलेगा भूख प्यास प्राण का धर्म है प्राण के साथ एकता करके मैं भूखा हूं प्यासा हूं बोलता है ज्ञानी हम ज्ञान बुद्धि का धर्म है जानना उसको आरोप करके अपने में बोलेगा मैं ज्ञानी हूं अमुक हूं यही है माने केवल भूत रूप से देखा ही नहीं कहा ही नहीं कहने भी लग गया देखा ही नहीं कहने भी लग गया देखा तथा चुतंतरम इसलिए छांदो मैं कहा है अनेक जीवन आत्मा प्रभुष्य नाम रूप व्याकरण इस जीव रूप से प्रवेश करके मैं नाम रूप को स्थूलीभूत करूं ये कहा नो व्यतिरिक्त आत्मज्ञान से भी कथम उत्तर आध्यात्म भ्रम की आशंका शरीर आदि से भिन्न आत्मबुद्धि हो जाने पर आत्मा अतिरिक्त है ऐसा ज्ञान होने पर फिर ये तादात्म्य भ्रम कैसे होगा शरीर के धर्मों का कैसे अपने में आरोप करेगा ये शंका है मानो व्यतिरिक्त आत्मज्ञान सती आत्मा को अतिरिक्त ज्ञान हो जाने पर मैं भिन्न हूं ज्ञान होने पर आत्मा जानने पर प्रथम उक्त तादा ब्रह्म फिर तादा तो ब्रह्म कैसे होगा तब कहते हैं श्रुति श्रुति कहती है क्या किम यह अन्यम बावरिषद इससे अतिरिक्त क्या आत्मा व्यतिरिक्त है ही नहीं समझता ही नहीं वो आत्मा का भिन्न ज्ञान होता तब उसका धर्म यह नहीं लाता हाँ बोलता है किम यह अन्यम इति बावरिषद यहाँ क्या है और यही तो है जो शीशा में दिखता है यही है बस दूसरा कुछ नहीं है समझा उसको ऐसा बोल दिया अध्यारोप यहां तक है आगे अपवाद आएगा स एतम एवं पुरुषम ब्रह्मतम अपसम इसके आगे अपवाद प्रकरण आ जाएगा कालांतर में फिर वो जो शरीर को ही मैं मान के बैठा हुआ व्यक्ति था उसको किसी समय आ जाने पर परम गुरु के द्वारा उपदेश मिलने पर बातें समझ में आ जाती है फिर अपने को ब्रह्म भाव पर प्राप्त करता है ये बोलना चाहते पूर्व रूप में प्राप्त करता है ये बोलना चाहते हैं समय हो गया है नहीं करता